ये मुंडे की कहाँ है नी कहाँ कहाँ हाँ, ये मुंडा बनाता है नी इस एक दरखत तो कहाँ को है उसका तो मुंडा बनता है छाजड़ा बनता है ठीक है नहीं ये इसका नाम है कंगोर ये कंगोर बड़ो एक बाग हुए बगीचो उसमें एक दरखत हुए बड़ो बूढ़ो हुए ठीक है नहीं तो वो धौड़ी होती है ये धौड़ी होती है फिर उसका अनाजे में कितना अनाजा कि इसकी पूँछ बनती है इतनी सुर बनता इतना फिर बिचा पांच आंगल ठीक है इतना सुन ये सो ऊपर दो बैंता चार आंगल ठीक है नहीं तो सुर सवा तो अनाजे मासे सवा तो कोई बाजे ही नहीं ठीक है हमें ए, ए पूछ है नहीं इतनी पूछ बनाया गया तो नहीं बाजे अच्छा। वो फिर सुर बनाए कराए उसने मैंने ऊपर काट से चक्कू में करे चक्कू में करे उसके ऊपर मेहंदी लगा से मेहंदी लगाने में वो लाल बन जा फिर वो बजाएगा ये सुरह चार चार हाँ। अच्छा। तो इसकी पूंछड़ी हाँ ये पूंछ है ना हाँ इसकी पूंछ कितनी बनती है चार पाँच छः अंगल बनती है दो दो, दो सुर दो अंग सुर बनता है दो अंग के सुर के बिचा पांच अंग दो ही सुरों के बिचा पांच अंग हाँ ये पांच अंग है फिर उसका फिर फिर तो ठीक है अनाज मत है क्यों कि इतना तो पूजेगा नहीं ये तो पूरा अनाज मत है कि बस इतना ठीक है तो ये ये बन गया एक बैंत दो बैंत चार अंग दो बैंत चार अंग बस हमें पी लियो अकेला बैठा चाहो तो फेर पा शोभा लंबा तो होएगा अढ़ाई फुट अढ़ाई फुट है शंकर भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान अच्छा एक तरफ पूछ कहते हैं उसको और दूसरी तरफ सिर कहते हैं ये सिर हाँ, हाँ, हाँ ये सिर्फ मामूली मामूली शक्कर अपने मामूली है हाँ इसमें शक्कर थोड़ी में मीठो है कड़क होनी भी है हाँ थोड़ा मीठो करना आऊ हाँ थोड़ी हाँ आऊ बस रानी तुझी ये पाकिस्तानी जने एक नड़ बात था उसमें बहत होती है कि राणी तुझी सूं सिकल सां वेही करिया रातो ॾिन रिहाणियूं नौकरी लिखाई किस्मत में गुजरात जी पोहाण करिया गुजरात मुल्क मलहीर जंहिं में रातो ॾींहुं वसनमी पचीस जी साल में मुझे लॻो कुदरती रण लसानी जे जागा त सीं हुजे तो फफोड़े मारे झमली माशूक ग़रीब छा करिया की एतिरा ॾिन अंदरि मुंहिंजो अंधारो मुंहिंजे लिखियो भरियो हाणे चिटो ॾींहुं ॿियनि जो आशिक गिदड़ भोलड़ा मुंहिंजो माशूक राणल कहिड़ी शीं तोड़े पियो वसे अठारे जहिड़ो मी त अखर न फिटे हयाती हूंदे दिलि ते आशिक जा ये पाकिस्तानी बोली में हाँ, हाँ। सिंधी में हाँ।, हाँ ये नड़ पाकिस्तान में ये नड़ जन बाधता है ईद के दिन मुसलमान के ईद होती है सांगड़ के शहर में जना बीस पच्चीस जन नड़ आता है नड़ बजाने वाला तो एक जन तो नड़ बजाता है पाँच सौ छः सौ आदमी बैठता है उसमें ये बैंत बोलता है अड़े बेली उमर आंदी मारी अज उमर आंदी मारी दाम वॾे दड़के उन महिल कोन हो में तड़ते न तड़ सूमरा तुंहिंजी सिसी न लामन में पई लड़के वो तो ते कहरू कड़क मूंखे बेडो हाणी छो कई हिन कोटनि में हमें हिते थोरो न न इहो नी आपने पिसंदा आहे कोन करा ॼण इमें कुझु महित सात आठ बैत है अच्छा। हाँ कहते कि स्वामी भराए ने सो हाँ। बैत तो बैत किसका है बैत ये नड़ का है ए, एक जन तो नड़ बजाता है दूसरों को बैत कहता है तो उस बैत में ये नड़ ये नड़ाटी ये गड़ा इतना अच्छा ठहेगा तर तर ऊपर आएगा यूँ क्योंकि ये गाण है कि जिन्हें ये डामकी होती है ना ये बैत इसी के लिए ये बैत है कहानी ये बैत होती है नहीं अभी मैं बोले आइए ये नहीं अच्छा, हाँ क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में सुना हूँ कि वहाँ एक आदमी नड़ बजाता है दूसरा कहानी बोलता है वो ये है नहीं वो अभी मैंने बोली नहीं हाँ। ये कहानी कहानी तो ये है दूसरा नड़ बजाता तो उसके साथ हम कह नहीं कह दिया हाँ। तो वहाँ बलूचिस्तान में नड़ सर कहते हैं उसको हाँ, हाँ नड़ काबुल कंधार में वो तो नड़ को तो नड़ज बोलता है आन ये बैंत को तो बैंत बोलता है ठीक है ना हाँ वो नड़ मंगाएगा अमरकोट हम्म, में नड़ू थे नारे डोरे में नड़ू थे नारे डोरे में मीरपुर में सादीपली में हैदराबाद में नड़े सांगड़ सिंजोड़े में नड़ है खिपरे में नड़ उता है बगीचों तो अभी अच्छा, पहले ये बस ये नड़का जी बाजा ना ना वो तो यहाँ नहीं के गीत दी तो मैं थोड़ा सुनाऊँ पूरी पर थोड़ा थोड़ी सी फीस कहीं नहीं मामूली फीस मामूली है वो लिए ना हाँ लियो फीस मामूली है ये तो मैं था चिगलाई हाँ लियो हम्म हम मार का Yeah. ਮਸੌਣੀੜ ਮਸੁਜੇੜੇ ਲਾਂ ਬੇਲੀੜਾਣ ਸਾਥੀੜਾਣ ਸਮਰੋੜੇ ਹਾਲਾੜੇ ਲਾਲੀ ਜੜ हाथ जोड़ करियोड़े पीतल जड़ियों पलानड़े लाल लगी जो कासी डोड़े हल बटारा लाली जेड़ मुल्क डेड़ घोड़ा पौने पिया ताजा ये लाली जन लड़की थी अच्छा, वो लड़की का गाना है वो लड़की का गाना है वो लाली नानी को कहा कि मैंने सांडिया को धारे दे फिर उसको धारे देना फिर वो मर्दान का भेष करे हुए सांडिया ऊपर एक सदोर बादशाह तो उसको बगे चो जाए उजाड़ करियो ये लिए जाए ओंकार हाँ, हाँ। क्या अभी चालू है क्या हाँ, ये सांडिया की हुंगर सांडिया की बग की हुंगर हाँ ठीक हाँ एक इसमें लड़का होता है लहरा एक लहरा होता है अच्छा। ठीक है ना एक ये लाली का गाना ये लहरा हम्म, ना L'era. Sonrası Sunani L'era. Thank you. Heiligen गुर की फूंक हाँ एक एक लस्सी हाँ ये गुर्रे को हाँ लस्सी हुआ कर देनी हुआ कर देनी दे दी इसमें तो बस है लस्सी ये है गुर की ये है नहीं एक तो धीरे बोलो एक सौ तो थोड़ा ऊपर बोलो ठीक है नहीं हाँ। तो उसकी मान्य तो हाँ एक तो आवाज़ ऊंचा बोलो हाँ। एक तो धीरे धीरे भाई ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे काम ऐसा हुआ गया काम है ये लस्सी तो हो गया हाँ ठीक लस्सी मानी क्या है लस्सी अब हिंदी शब्द है कौन लस्सी मतलब लस्सी तो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा सीधी और तेज हाँ थोड़ी ज़्यादा तेज हाँ, सीधी और तेज हाँ, हाँ वो थोड़ी तेज हाँ। ये थोड़ी धीरे ये गुरु की फूंक थोड़ी ये आप टाइम एक थोड़ा ऊपर कर दो तो उसका बहुत ज़्यादा मशीन एक थोड़ी धीरे अभी हमें पंखिया पंखिया पंखियां tabii ki de. Neydi daha öğrenciler? ਹੋ ਜਰਾ ਚਰਤਾਵੇ ਨਰ ਬੰਸੀ ਬਜਾਵੇ ਧੇਨ ਚਰਾਵੇ ਤੁਰਾ ਰਚਾਵੇ ਨਾਰੋ ਰਾਧਾ ਤੂੰ ਜੋ ਸੰਗਰੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਸਖੀਨ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਹਾਂ मथुरा जी Sorun hare dile